प्रेरितमन्त्रब्रह्मसरधावा चलाभाजिबायसभयपावा वा चला भानिरासोपजे मनत्रासां यथा चक्रभयऋषिदुरभासा ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मवाण दौड़ा कौवा भयभीत होकर भाग चला वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा तब वह निराश हो गया उसके मन में भय उत्पन्न हो गया जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा काहुन बैठन कहान वो ही राख को सक राम कर द्रोही तुम मृत्यु पितु समन समाना सुधा हो सुनु हरि जाना मित्र करै सत रिपु कै करणी ताकह बिबुधन दे बैतरणी सब जगुताहि अनलहुते ताता जो रघुबीर सुनु भ्राता पर रखना तो दूर रहा किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है काकभूषुंड जी कहते हैं हे गरुण सुनिए उसके लिए माता मृत्यु के समान पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने करने लगता है देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है हे भाई सुनिए जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है असत जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है नारद देखा बिकल जयंता लाग दया कोमल चित संता पठवा तुरत राम पहिता कहसी पुकारि प्रणत हित पाही आतुर सभय गहे सिपद जाए त्राहि त्राहि दयाल रघुराए अतुलित बल अतुलित प्रभुताए मैं मति मंद जान नहीं पाए नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया उसने जाकर पुकार कर कहा हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था निज कृत कर्म जनित फल पायऊ अब प्रभु पाहि शरण तकियाऊ सुन कृपाल यति आरत बानी एक नयन करित जा भवानी किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित प्रभु छाड़ कर छो को कृपाल रघुवीर सम अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ शिव जी कहते हैं हे पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसके अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया उसने मोहवश द्रोह किया था इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा